ओम तीन बार ओम का उच्चारण धर्म प्रेमी सज्जनों आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का पंद्रवा मंत्र आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए क्या विनय निवेदन करना चाहिए उसका एक रूप आज के मंत्र में है परमात्मा की स्तुति करते हुए भी इसमें प्रार्थना की गई है मंत्र है स न पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भवा स भवान अग्नि वह वे आप अग्नि हे अग्नि परमात्मा महर्षि ने व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी दिया कि अग्नि शब्द से यहां पर परमात्मा का ग्रहण होगा न कि भौतिक अग्नि का तो स भवान भगवान का हम अध्यार करेंगे क्योंकि अग्नि ये संबोधन सामने परमात्मा को मान के परमात्मा को किया जा रहा है तो सब भगवान अग्नि हे वे आप अग्नि न हमारे लिए हम सबके लिए पितेव सुनवे सुपायनो भव पिता इव पिता के समान सुनवे सोनू के लिए पुत्र के लिए सोनू शब्द निरुक्त में पुत्र के नाम में पढ़ा गया है आजकल आंग्ल भाषा में जो सन शब्द बोला जाता है वो भी इसी से परिवर्तित होकर के बना है ऐसी व्यापक मान्यता है सन सोनु तो कहा जैसे पिता सुनवे पुत्र के लिए अपने पुत्र के लिए होता है कैसा सुपायन श्रेष्ठ सरलता से प्राप्त होने योग्य उपायों को देने वाला ऐसे भव आप भी होइए यहां जो उपमा दी गई है पिता इव सुनवे इसको दो तरह से देखा जाता है दो तरह से व्याख्या की जाती है और महर्षि ने जो व्याख्या की है हम उसको अधिक महत्व देंगे वो अधिक श्रेष्ठ है एक तो ये बोले हैं कि जैसे पिता पुत्र के लिए सुपाय होता है सरलता से प्राप्त होने योग्य होता है जैसे पिता पुत्र के लिए सरलता से प्राप्त होने योग्य होता है पुत्र जब चाहे पिता से मिल सकता है उसे कोई लिखित स्वीकृति नहीं लेनी होती वो कभी भी अपने पिता के पास पहुंच जाता है किसी अधिकारी के पास मंत्री के पास पहुंचना कठिन होता है उनसे मिलना उनको प्राप्त करना कठिन होता है लेकिन पिता पुत्र के बीच में इस प्रकार की बाधा नहीं होती वो सहज परस्पर स्वीकृत होता है कि पुत्र कभी भी पिता के पास में जा सकता है अर्थात पुत्र के लिए पिता सरलता से प्राप्त होने योग्य होता है जैसे पुत्र पिता को सरलता से प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार उससे बात कर सकता है उसी प्रकार आप भी हमें सरलता से प्राप्त होने वाले बन जाइए अर्थात हम जिस प्रकार पिता को सरलता से प्राप्त करते हैं ऐसे ही आपको भी सरलता से प्राप्त कर सके अभी हमें लगता है कि परमात्मा को पाना बहुत कठिन है असंभव जैसा लगता है तो आप हमारे लिए सरलता से प्राप्त होने योग्य बन जाइए आप हमारे लिए सरलता से उपलब्ध रहिए ये एक अर्थ किया जाता है दूसरा अर्थ जो महर्षि ने किया है जैसे पिता पुत्र के लिए श्रेष्ठ उपायों को देने वाला बनता है जैसे पिता पुत्र के लिए श्रेष्ठ साधनों को देने वाला बनता है ऐसे आप हमारे लिए बन जाइए उन्नति के लिए अत्युत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन चाहिए उन श्रेष्ठ साधनों को आप देने वाले हो जाओ और उन साधनों को सरलता से देने वाले हो जाओ अब इस दृष्टि से हमारी कामना परमात्मा के प्रति क्या है कि हे परमात्मा हमें वो श्रेष्ठ साधन जो हमारी उन्नति के लिए आवश्यक हैं वे सरलता से प्राप्त हो जाएं आप वे साधन हमें सरलता से प्राप्त कराइए अब यहां परमात्मा सरलता से प्राप्त होने योग्य नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है और परमात्मा को कह रहे हैं हे परमात्मा आप हमें वो साधन सरलता से प्राप्त कराइए श्रेष्ठ साधन प्राप्त कराइए ऐसे साधन महर्षि ने इसका विशेषण सरलता जो दिया है आसानी से जो दिया है सुख से प्राप्त सुख से प्राप्त का मतलब है सरलता से प्राप्त बिना कष्ट के जो साधन हमें मिल सकते हैं ऐसे और वो कौन है श्रेष्ठ उपाय के प्रापक ये पूरा शब्द एक साथ हमें लेना चाहिए पूरे वाक्य को सुख से प्राप्त श्रेष्ठ उपाय के प्रापक जो श्रेष्ठ उपाय है श्रेष्ठ उपाय किसके लिए हमारी उन्नति के लिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो श्रेष्ठ उपाय हैं उनका विशेषण ये बनाया गया उपाय कैसे होते हैं वो सुख से प्राप्त होते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए जितने उपाय हैं वे उपाय वे साधन सरलता से प्राप्त होने योग्य हैं ऐसे आप हमारे लिए हो जाइए परमात्मा ने मुक्ति प्राप्ति के लिए सभी साधन जो आवश्यक हैं वो हमें सरलता से उपलब्ध कराए हैं मुक्ति का प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना हमें बहुत कठिन लगता है और उस कठिनाई का कारण हम प्राय क्या देखते हैं हम साधनों की न्यूनता में देखते हैं साधनों की अनुपलब्धता में देखते हैं हम भी कारण हैं हम ठीक तरह से साधना नहीं कर पा रहे हैं ये कारण स्वीकार करते हुए भी जब हम इसके भी कारण में जाते हैं कि मैं शीघ्रता से साधना क्यों नहीं कर पा रहा हूं तो फिर हम वही सोचने लग जाते हैं मेरे पास ये बाधक कारण बना हुआ है मेरे को इस वस्तु की न्यूनता है इस वस्त्र की इस भोजन की इस पुस्तक की इस उपदेशक की मार्ग की वातावरण की उचित व्यक्तियों की हम फिर वहां देखने लग जाते हैं पहले हम ये बाधा देखते हैं कि मेरे पास सारे साधन नहीं हैं मेरे को योग्य गुरु नहीं मिला मेरे को योग्य निर्देश नहीं मिला मेरे को ठीक से चलाने वाला नहीं मिला इस प्रकार दूसरों को देखते हैं और अपनी भी न्यूनता देखते हैं कि मैं जो साधन उपलब्ध है उसमें मैं चल नहीं पा रहा हूं ये देखते हैं अनेक व्यक्ति नहीं भी देखते लेकिन जब हम अपने को भी कारण मानते हैं वहां भी हम अपने असमर्थता का अपने पुरुषार्थ न करने का कारण किसमें देखने लग जाते हैं दूसरों में देखने लग जाते हैं मेरे माता पिता ने मेरे को बचपन से ऐसी शिक्षा नहीं दी बचपन से ऐसा संस्कार नहीं दिया मेरा शरीर ऐसा है मेरा स्वास्थ्य ऐसा है माता पिता ने के कारण से है माता पिता ने ऐसा लालन पालन किया इसलिए है फिर दूसरों को देखने लग जाते हैं मेरे में आलस्य है क्योंकि यहां का वातावरण ऐसा है इतने वर्षों तक मैं चल नहीं पाया मेरे में ये अज्ञान रहा इन अज्ञानताओं के कारण मैं नहीं बढ़ पाया तो ये अज्ञान क्यों रहा क्योंकि मेरे गुरुओं ने मेरे को ठीक ठीक नहीं बताया मेरे दोषों को पकड़ा नहीं मेरे दोषों को बताया नहीं और बताया तो बोले बताया तो उन्होंने इस ढंग से बताया कि मुझको स्वीकार नहीं हुआ अर्थात जब हम अपना दोष इसमें देख रहे होते हैं उसका भी कारण हम दूसरों के लिए प्रस्तुत करने लग जाते हैं इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई महर्षि ने जो वाक्य लिखे कि हे परमात्मा हे अग्नि पिता इव सुनवे जैसे पिता पुत्र के लिए सुपाय होता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय देता है सरल उपाय देता है ऐसे आप हमारे लिए हो जाइए इसका मतलब है परमात्मा ऐसा है परमात्मा ऐसा नहीं है और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं ये भाव कभी नहीं लेते प्रार्थनाओं में परमात्मा ऐसा ही है जब पिता अपने पुत्रों को प्रगति के साधन प्रदान करता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप ज्ञान के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ उपाय बच्चों को देता है जितना उसके पास धन है जितना उसके पास ज्ञान है अपनी समझ से वो सर्वश्रेष्ठ उपाय अपने बच्चों को देता है कभी भी निम्न उपाय नहीं देगा जो पिता है वो इस बात को अनुभव कर सकते हैं करते हैं ये बात माता पे भी लगती है लेकिन यहां पिता के रूप में कहा जा रहा है कोई पिता ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को न्यूनतम कमतर जो कम श्रेष्ठ है ऐसा उपाय दू ऐसा साधन दू अपनी सामर्थ्य से वो श्रेष्ठ उपाय देता है श्रेष्ठ साधन देता है और वो साधन इस रूप में देता है कि वो उसके लिए सरलता से उपयोग किए जाने योग्य हो साधन देता है और वो साधन कैसे होते हैं कि मेरा पुत्र इन साधनों का सरलता से उपयोग कर सके उसके लिए वो सरलता से प्राप्त हो उपलब्ध हो ये भाव भी रहता है ऐसा नहीं कि एक श्रेष्ठ उपाय ऐसा कंप्यूटर या ऐसा लैपटॉप या ऐसा मोबाइल इतना अच्छा दे दिया कि वो फिर चला भी ना सके उसको उपाय तो साधन तो श्रेष्ठ दे दिया लेकिन वो सरल ना हो तो उपयोगी नहीं होता है और वो उसी में उलझ के रह जाए उसको समझने में ही लगा रहे कि ये साधन कैसा है मैं इसको समझूं और उससे उपयोग जितना लेगा उससे अधिक उसको समझने में उसका समय लग जाए उसी में उलझ के रह जाए तो उपयोगी नहीं होता तो जैसे श्रेष्ठ उपाय श्रेष्ठ साधन दिए जाते हैं वो इस तरह के दिए जाते हैं पिता के द्वारा जो सरलता से उपयोग में लाए जा सकते हैं सरलता से काम में लिए जा सकते हैं ये दोनों भावना पिता की रहती है तो जैसे पिता अपने पुत्र के लिए श्रेष्ठ उपायों को सुख से प्राप्त होने योग्य बनाता है ऐसे आप भी हो जाइए तो परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ उपाय दिए हैं अपनी प्रगति के लिए जितने श्रेष्ठ उपाय हो सकते हैं वो सब दिए हैं यथा योग्य कर्मानुसार भी उसमें जुड़ा हुआ है फिर भी जो श्रेष्ठ उपाय दिए हैं वो अच्छे से अच्छे दिए हैं और वो साधन सरलता से प्राप्त होने योग्य है हमारे लिए परमात्मा ने मुक्ति के मार्ग को जटिल या कठिन नहीं बनाया है परमात्मा ने सरलतम मार्ग हमारे लिए दिया है और उसके लिए श्रेष्ठतम साधन दिए हैं और वो श्रेष्ठतम साधन भी ऐसे हैं कि हम उनका बहुत सरलता से उपयोग कर सकते हैं बचपन से हम बुद्धि और मन का उपयोग करते हैं हमें उसको बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती हम बस उपयोग करते चले जाते हैं कितना सरल है हमारी सन्निधि मात्र से हम हैं और वो हमारे लिए काम करने लग रहे हैं अपने आप स्वचालित कितनी सरलता है बच्चे को ये सीखना नहीं पड़ता कि मैं बुद्धि का उपयोग कैसे करूं आंख का उपयोग कैसे करूं मन से चिंतन कैसे करूं स्मरण कैसे करूं अंदर जो होता है वो अपने आप होता है इतने सरल उपाय दे रखे हैं हाँ फिर उन उपायों को प्राप्त करने के बाद में उनका उपयोग करना प्रयोग करना श्रम करना ये हमारे पे निर्भर है ये परमात्मा नहीं करेगा ये परमात्मा कर भी नहीं सकता है और वो उचित भी नहीं है ये अब हम प्रत्येक आत्मा का पृथक पृथक कर्तव्य है पृथक पृथक दायित्व है कि हम उन उत्तम साधनों का उपयोग कितना करते हैं और कैसे करते हैं प्रगति के साधन भी परमात्मा ने बहुत सरल और श्रेष्ठ दिए हैं और अवनति जो हमारी हो रही है उससे बचने के साधन भी हमें उत्तम और श्रेष्ठ दिए हैं हमें प्रतीति होती है कि मैं अपने इस दोष को छोड़ नहीं पा रहा हूं दोषों को छोड़ना बहुत कठिन है हम खोजते हैं क्या कोई सरल उपाय नहीं है कि जिससे हम बहुत शीघ्रता से बिना श्रम के बहुत कम श्रम के इस दोष से मुक्त हो जाएं हम साधनों की खोज करते हैं हैं परमात्मा ने वो साधन दिए हैं जन्म जन्मांतर के संस्कार न जाने कितने जन्मों में हमने जो बुरे संस्कार अपने पे डाले इतने लंबे समय में अपनी अज्ञानता से उन संस्कारों को हम बहुत शीघ्र मिटा सकते हैं ये सामर्थ्य परमात्मा ने दी है उसके लिए हमें उतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है जितने जन्म जन्मांतर हमारे उसको बनाने में लगे थे उससे बहुत कम में उससे सैकड़ों या हजारों गुना कम समय में हम इसे पूरा कर सकते हैं हटा सकते हैं ये क्या सुपाय नहीं है सरलता से नहीं है हटाने योग्य जिन पाप कर्मों का फल हम विभिन्न शरीरों में जाके भोगते हैं परमात्मा भेजता है वहां पर वहां हमारे कर्म क्षीण होते हैं भोगे जाने पर कर्माशय कम होता है पाप कर्माशय कम होता है लेकिन इन विभिन्न शरीरों में भी आप देखेंगे कोई इतनी कठिनता नहीं है हैं कष्ट वहां पर भी ऐसे कष्ट मनुष्य शरीर में भी है भय यहां पर भी है मृत्यु का भय हानि का भय अभाव का ये सब चीजें मनुष्य शरीर में भी हैं वहां भी है वहां भी कोई किसी को मार देता है खा जाता है वो सब है लेकिन फिर भी आप उन पशु पक्षियों को दिन भर देखेंगे तो दिन भर में वो दुखी अधिक नहीं रहते कभी भय होता है तो साधन भी दिए वो उड़ भी जाते हैं भाग भी जाते हैं और प्राय सुख शांति से अपना भोजन करते हैं विश्राम करते हैं जीवन चलाते हैं किसी भी पशु किसी भी प्राणी का देख लीजिए कितना भी हमें वहां जाने से डर लगता हो वो कष्ट प्रद स्थिति लगती हो और आप उसके पूरे उसके अपने जीवन को देखिए उसको रहने को भी नहीं है तो भी बाहर बैठता है सोता है तो उसमें कोई दुख प्रतीत होता है क्या उसका वो वहां रहता है वहीं पर ही सो जाता है खुले में सो जाता है चारा है चारा मिल जाता है यहां नहीं वहां मिल जाता है कभी अकाल हो गया और हो गया वो एक विशेष आपत्ति की स्थितियां हैं जहां उनको कष्ट होता है कि भोजन नहीं मिलता हो पानी नहीं मिलता हो नहीं तो प्राय उनका भोजन आदि जो भी होता है वो उपलब्ध रहता है दिन भर की स्थिति में उनको अधिक कष्ट नहीं होता वो अधिक बेचैन नहीं होते प्राय शांत रहते हैं जो हिंसक दिखाई देते हैं वो उनके लिए हिंसा नहीं है वो तो उनका भोजन के लिए है उन पर कोई आक्रमण करेगा तो वो फुफकारते हैं या गुर्राते हैं वो उनकी रक्षा के लिए है लेकिन वैसे वो जीवन उनका आपको ऐसा कठिन नहीं लगेगा हमारे कर्माशयों को भी क्षीण करने के लिए परमात्मा ने जो उपाय दिए वो श्रेष्ठ उपाय हैं विभिन्न शरीरों में जो भेजता है वो हमारे कर्माशय को क्षीण करने के श्रेष्ठ उपाय हैं श्रेष्ठ परिस्थितियां हैं और वो सरल हैं नहीं तो हम अपने कर्माशय से कैसे मुक्त होते हैं जैसे जेल होती है कारागार होता है उतने कठिन नहीं है ये विभिन्न योनिया कारागार में तो बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है उतना कष्ट नहीं है उतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं है कारागार में रहने वाला जितना दुखी होता है उतने ये दुखी नहीं दिखाई देते दोनों की तुलना देखिए तो परमात्मा ने हमारी अवनति से ऊपर उठने के लिए भी जो साधन दिए हैं दोषों से हटने के लिए चाहे संस्कार हो चाहे कर्माशय हो उसके भी जो साधन दिए हैं जो व्यवस्था दी है वो श्रेष्ठ दी है और वो सरलता से प्राप्त है प्राप्त है हमारे को हमें अपना कर्माशय क्षीण करने के लिए भोग भोगने के लिए इन विभिन्न योनियों में जाने के लिए शरीरों में जाने के लिए कोई हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ते कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता मेहनत नहीं करनी पड़ती परमात्मा देता है हमारे को वो स्वतः देता है बाकी अपने कर्माशय को भोगने का दायित्व हमारा था हमें भोगना था वो उसके लिए भी श्रम करना था तो हमें करना था जैसे कि हमारा कपड़ा यदि गंदा हो जाता है हम कीचड़ में गए हैं असावधान है गंदा हो गया है तो उसको धोने का दायित्व किसका है हमारा बनता है कमरे की गंदगी साफ करने का दायित्व तो हमारा बनता है हमें श्रम करना पड़ता है वर्तमान जीवन में अपने दोषों को हटाने के लिए लेकिन हमारे पाप कर्माशय को क्षीण होने के लिए हमें कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए कौन से साधन जुटाने पड़ते हैं मनुष्य शरीर की छोड़ दीजिए यहां तो कर्म की स्वतंत्रता है प्रगति के लिए भी श्रम करना पड़ता है और दोषों को हटाने के लिए भी लेकिन बाकी जो इतना बड़ा क्षेत्र है विभिन्न शरीरों का जहां हमारे कर्माशय क्षीण होते हैं उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है कुछ भी नहीं हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनी बनाई मिलती हैं हम उन शरीरों में जाते हैं वहां रहते हैं वहां जीवन के लिए भी साधन उपलब्ध हैं और उसमें रहते रहते हमारा कर्माशय कम होता जाता है वो भी एक उपाय है हमारी प्रगति के लिए परमात्मा ने जितने भी साधन हमें दिए हैं वो श्रेष्ठ ही हैं और वो सरलता से प्राप्त होने योग्य हैं यदि हम इसको केवल प्रार्थना के रूप में लें तो ये स्तुति नहीं है हे परमात्मा आप पिता के समान जैसे पिता पुत्र के लिए सुपाय होता है वैसे बनिए ये तो शुद्ध प्रार्थना है महर्षि ने इसको स्तुति का शीर्षक भी दिया स्तुति का शीर्षक दिया है ये परमात्मा की बहुत बड़ी स्तुति है तो महर्षि क्या लिखते हैं यहां पर हे विज्ञान स्वरूप ईश्वर अग्नि वो परमात्मा चूंकि पूरा जानता है इसलिए वो अज्ञानता से कभी गलत उपाय नहीं देता लौकिक पिता तो अपनी अज्ञानता से गलत साधन दे सकता है अनजाने में जानबूझ के नहीं देगा लेकिन अनजाने में दे सकता है लेकिन वो परमात्मा नहीं देता क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप है और उसके पास साधनों की भी कमी नहीं है ये लौकिक पिता तो साधनों की न्यूनता के कारण से धन की न्यूनता के कारण से असमर्थता के कारण से सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं दे पाता है लेकिन वो कैसा है वो ईश्वर है दो संबोधन दिए विज्ञान स्वरूप और ईश्वर विज्ञान स्वरूप ज्ञान को बता रहा है और ईश्वर उसके साधनों की संपन्नता को बता रहा है ऐसा वो अग्नि है ऐसा वो अग्नि अग्रणी हमें आगे बढ़ाने वाला पिता है तो वहां तो अज्ञानता की संभावना नहीं इसलिए श्रेष्ठ उपाय में कोई शंका नहीं कर सकते साधनों की न्यूनता नहीं इसलिए श्रेष्ठ उपाय में कोई हम शंका नहीं कर सकते ऐसा वो परमात्मा आप हमारे लिए सुपायन सुपायन सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के प्रापक इस सुख से प्राप्त को श्रेष्ठोपाय का विशेषण बनाइए कैसे श्रेष्ठ उपाय श्रेष्ठ उपाय जो कि सुख से प्राप्त होते हो श्रेष्ठ उपाय लेकिन सुख से प्राप्त आज श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यालय हैं विश्वविद्यालय हैं लेकिन वो हमारे लिए सुख से प्राप्त नहीं है वहां जाने के लिए कितना धन और कितनी विशेष योग्यता चाहिए हम नहीं कर पाते हैं वायुयान भी एक श्रेष्ठ उपाय है लेकिन वो सरलता से प्राप्त योग होने योग्य नहीं है सबके लिए उतना धनी नहीं होता है वो इतना मूल्य होता है वहां पर संसार में जितने श्रेष्ठ उपाय हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते जाते हैं उनकी उनका मूल्य बढ़ता जाता है वो प्राप्त होने योग्य दृष्टि से वो सुख से प्राप्त होने योग्य नहीं होते वो कठिनता से प्राप्त होने योग्य बनते चले जाते हैं क्योंकि उसमें दूसरों का बहुत धन श्रम लगता है तो हमें भी बहुत कुछ चुकाना पड़ता है लेकिन परमात्मा की तरफ से जो श्रेष्ठ उपाय दिए गए हैं वो इतने श्रेष्ठ होते हुए वो कठिनता से प्राप्त होने योग्य नहीं है वो सुख से प्राप्त होने योग्य है तो सुख से प्राप्त श्रेष्ठोपाय के आप प्रापक बनिए आप हैं और अत्युत्तम स्थान के दाता हैं सबसे श्रेष्ठ जो स्थिति हो सकती है मुक्ति की उसके देने वाले हैं और इस मनुष्य शरीर में भी इन प्रकृति के बीच में रहते हुए भी जो श्रेष्ठतम स्थिति हो सकती है उसको देने वाले आप हैं दाता कृपा से सर्वदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो ये स्तुति की जा रही है हे स्वस्तिप स्वस्थिता परमात्मन कल्याण के देने वाले परमात्मा सब दुखों का नाश करके हमारे लिए सुख का वर्तमान सदैव कराओ हम चाहते हैं कि जैसा परमात्मा अभी कर रहा है ऐसा वो आगे भी करता रहे सर्वदा बना रहे जिससे हमारा वर्तमान श्रेष्ठ ही हो वर्तमान भी श्रेष्ठ हो इस जन्म के बाद में जब मुक्ति होगी मुक्ति भी श्रेष्ठ होगी और ये जीवन भी हमारा श्रेष्ठ हो और उसको देने में परमात्मा हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोगी सहायक है आगे लिखा सनह पिते व सूनबे जैसे करुणामय पिता पिता पुत्र के प्रति करुणामय ही होता है बच्चा अल्प सामर्थ्य वाला होता है उसके पास साधन नहीं है पिता में करुणा का भाव होता है मैं इसको सहयोग करूं ऐसे ही परमात्मा भी हमारे प्रति करुणा का भाव रखते हैं उनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है उनसे हमें प्रीति करने की आवश्यकता है उनके प्रति हमें विश्वस्त होने की आश्वस्त होने की आवश्यकता है क्योंकि वो करुणामय है जो करुणामय होता है उसके प्रति हमें शंका नहीं होती आशंका नहीं होती तो जैसे करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है सुखी ही रखता है सुखी ही रखना चाहता है सुखी ही रखने के प्रयास करता है वैसे आप हमको सदा सुखी रखो वो रखता है क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उसमें आपकी शोभा नहीं होगी पिता भी बहुत से कार्य इसलिए करता है कि यदि मेरा पुत्र अयोग्य रहा तो किसकी किसका अपयश होगा मेरा पुत्र यदि मूर्ख रहा बुरा बन गया दुर्गुणों से युक्त रहा तो पिता पे भी दोष आता है तो यहां महर्षि भक्ति भाव से एक पुत्र की तरह से पिता को कह रहे हैं परमात्मा को कह रहे हैं तो आर्य भी पिता का परमात्मा का पुत्र होता है वो पिता से इस रूप में बात कर सकता है ये भावना से युक्त बात है कि हम अच्छे बने हमारे अच्छे न बनने से आपका ही अपयश होगा और संसार में होता भी है जो अपने को ईश्वर के उपासक कहते हैं शुद्ध परमात्मा के मानने वाले कहते हैं जब उनकी दुर्गति देखी जाती है उनके अपुरुषार्थ के कारण से आलस्य के कारण से तो लोग कहते हैं देखो परमात्मा के मानने वाले ऐसे हैं इसे परमात्मा का अपयश होता है परमात्मा पे उसका दुष्प्रभाव नहीं आता परमात्मा उससे दुखी नहीं होता परमात्मा उससे कोई चिंतित नहीं होता वो अपनी स्थिति में सहज है तृप्त है आनंदित है संतुष्ट है किंतु समाज में तो होगा ही लोग तो कहेंगे ही तो एक पुत्र जैसे पिता को कह रहा है पुत्र इस भाषा में भी पिता को बोल सकता है बोलता है कि आप मेरे लिए ये व्यवस्था कीजिए नहीं तो लोग आपके लिए क्या कहेंगे तो उस भाव से महर्षि लिख रहे हैं क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उसमें आपकी शोभा नहीं होता होती या नहीं होना किंच संतानों को सुधारने से ही पिता की शोभा और बढ़ाई होती है परमात्मा भी ऐसा ही मानता है और उसने हमारे सुधार के लिए समस्त उपाय परिपूर्णता से हमें दे रखें जो हाँ। पिता पर्याप्त साधन उचित साधन पुत्र के लिए दे देता है और पुत्र उनका उपयोग नहीं करता और प्रगति नहीं करता तो उसमें पिता पे दोष नहीं आता है सब जानते हैं कि पिता ने तो बहुत कुछ किया है ये पुत्र ही नहीं कर रहा है इसी प्रकार से परमात्मा तो सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध करा रहा है उस पर कभी दोष नहीं आएगा दोष हमारे पर ही आएगा <clears throat> हमारे पास में कितने भी न्यून साधन हो कैसा भी शरीर हो कितना भी धन हो रहने का स्थान कैसा भी हो यदि सामान्य रूप से हमारा जीवन चल रहा है तो भी हमारे पास में बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं प्रगति का अवसर फिर भी हमारे पास है क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमारे पास है मनुष्य की बुद्धि हमारे पास में है सीखने समझने सुधारने की सामर्थ्य हमारे पास में है प्रगति के बहुत अधिक अवसर हमारे पास में है इसलिए कितना भी न्यून साधन हो कितने भी न्यून साधन हो तो भी ये मन में दरिद्रता का भाव न रहे कि मेरे पास श्रेष्ठ उपाय नहीं है परमात्मा ने मेरे को श्रेष्ठ उपाय नहीं दिए हैं दिए हैं अभी भी बहुत श्रेष्ठ हैं और वो सब हमारे लिए सरलता से उपलब्ध है हमें गुरु नहीं मिला हमें कोई पुस्तक नहीं मिली तो भी यदि हम प्रयत्नशील हैं परमात्मा अंदर से हमें ज्ञान दे देता है हमें ठीक रास्ता दिखा देता है हम अपने प्रति सच्चे होने चाहिए लक्ष्य के प्रति सच्चे होने चाहिए और हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए रास्ता कहीं नहीं रुकेगा साधन उपलब्ध हो जाएंगे ज्ञान के रूप में अन्य रूप में कभी कमी नहीं आती तो किंच संतानों को सुधारने से ही परमात्मा की पिता की शोभा और बढ़ाई होती बढ़ाई होती है अन्यथा नहीं तो परम पिता परमात्मा अपने को इसी रूप में रखता है वो श्रेष्ठतम पिता है वो परम पिता है वो इन गुणों से युक्त है हमें अपने को आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि उस परमात्मा ने हमें ऐसा दे दिया है हमारे पास वो श्रेष्ठता है हमें उसका उपयोग करना है परमात्मा के प्रति परम पिता का भाव कि वो हमारा परम पिता है इस तरह का परम पिता है इस तरह का करुणामय है ये भाव हम अपने मन में रख सकें और उसके लिए साधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें ये आर्यों को अभिविनय निवेदन मन में रखना चाहिए ये महर्षि का अभिप्राय मंत्र का अभिप्राय प्रतीत होता है किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं शांति पाठ तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन में ईश्वर को परम पिता के रूप में स्वीकार करते हुए प्रार्थना स्तुति का भाव रखेंगे ओ शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिराप वनस्पत शान्तिः देवा शान्तिर्विश्वे शांति शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शांति शांति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः